ये भ्रम है कि हमारा किसी से प्रेम है या किसी का हमसे प्रेम ये भ्रम है से क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी आकार के साथ सजी हुई नहीं है अब तक कितने शरीर को मैं समझा और छोड़ दिया बचपन वाला शरीर कहाँ है जवानी वाला शरीर कहाँ है बुढ़ापे वाला शरीर कहाँ है पूर्व जन्म की बात छोड़ रहे हैं तो इसी जन्म में हमारा कितना शरीर बदला कैसे सात वर्ष में ऐसा हमको साइंसदान लोगों ने बताया है कि ये जो शरीर होता है इस शरीर में सात वर्ष में इतने परिवर्तन होते हैं कि पहले का कोई कण नहीं रह जाता ये सोला है ये डिजाइन मालूम पड़ती है कि वही है परंतु बदल गया इसका खून बदल गई चीज बदल गई हड्डी बदल गया कांट वो तो एक पर दूसरे दूसरे पर तीसरे तीसरे पत्थरों से आते जाते ये हालत है इस शरीर की अच्छा, तो तब तुम हो क्या तो विश्व साक्षी सुखम सुखी भव विश्व साक्षी सुखम चलो इस दुनिया से तुम अगर कुछ हो तो गवाह हो तो ये नहीं ये जो और हाथ बंद करके जो साक्षी बनते हैं ना तो, तो एक शरीर के हड्डी मन को काम का मैं साक्षी हूँ अपने को एक जेल खाने में रख के और साक्षी ही बनने की कोशिश कर रहे हैं यदि तुम्हारी परिच्छिता का भ्रम दूर नहीं हुआ है तो देखो देखो तो तुम तो साक्षी हो मान लिया भाई बड़े भारी ज्ञानी तुम साक्षी हो और दूसरा क्या है तो वो तो दृश्य है तो वो तो अज्ञानी है वो तो मूर्ख है मैं तो साक्षी हूँ मूर्ख हूँ और ये बद तो ये बेवकूफ साक्षी जो है हाँ, ये देवदूत साक्षी है वो साक्षी दो जीव हुआ करते हैं न दो जीव अलग अलग साक्षी होते हैं न जीव ईश्वर अलग अलग साक्षी होते हैं ये आप आप नोट कर लो ईश्वर अलग साक्षी है और जीव अलग साक्षी है और एक एक शरीर में बैठ के जीव अलग अलग साक्षी है साक्षी कोई अंतकरण की कल्पना नहीं है साक्षी माने साक्षात पश्यत अंतकरणम विनयी व पश्यते जब तुम अं-, अं-, साक्षी माने तो साक्षात देखे माने जो आंख से देखता है सो नहीं जो कान से सुनता है सो नहीं और जो मन से देखता है सो नहीं जो बुद्धि से देखता है सो नहीं जो समाधि से देखता है सो नहीं साक्षी माने साक्षात उपाधि विनय अज्ञान और अंतकरण और इंद्रिय और शरीर की उपाधि के बिना ही ये पाणनी सूत्र साक्षात प्रश्न संज्ञायाम साक्षी एक संज्ञा शब्द है किस अर्थ में है कि जो बिना इंद्रिय के बिना शरीर के बिना दूरबीन कुर्बीन के बिना अंतकरण के बिना बुद्धि के बिना समाधि के चित्त निरोध के बिना चित्त के बिना चित्त निरोध के बिना और चित्त के बिना जो ज्ञान स्वरूप है उसका नाम साक्षी है अरे मस्त रहो वादा क्यों दुख को क्यों पकड़ते हो विश्व साक्षी सुखी भरो धर्मा धर्म सुखम मानता नहीं न पे विभो न करता न भोगता मुक्त एवासी सर्वदा तो हम तुम्हारी तारीफ करते हैं तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं तुम कैसे हो धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानी न कहे विभो ये धर्म है ये अधर्म है ये सुख है ये दुख है देखो ये चारों को एक साथ देना अलग अलग नहीं देना ये सब मानस है मानस है मन मन की लहरें मनोविकार है मानस मनसी भवाह ये मन में पैदा होते हैं मन में पैदा होते हैं जब तुम डॉक्टर बने तो रोगी को अच्छा करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रयास करना तुम्हारा धर्म हो गया सब चौराहे पर खड़ा होके लोगों को एक्सीडेंट से बचाना तुम्हारा धर्म है और जब सिपाही बने और सब चौराहे पर खड़े होके लोगों को एक्सीडेंट से बचाना ये तुम्हारा धर्म हो जब तुमने अपना मैं सिपाही में जोड़ा तो एक्सीडेंट से बचाना धर्म है और जब तुमने अपने को डॉक्टर बनाया तो रोगी को रोग से बचाना धर्म है जब तुम पत्नी बने तो प्रति पति के प्रति निष्ठावान होना तुम्हारा धर्म है जब तुम पति बने तो पत्नी के प्रति निष्ठावान होना तुम्हारा धर्म और ब्रह्मचारी बने तो ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हारा धर्म गृहस्थ बने तो गृहस्थाश्रम का पालन तुम्हारा धर्म ये अहम भाव को धारण करके और उसके अनुसार मन में धर्म की धारणा उत्पन्न की जाती है अभी एक सज्जन ईश्वर का नाराज हो रहे थे कल दो चार दिन की बात है यहाँ की नागदान में था वही नाराज हो हमने सच बोला महाराज होता मर्यादा के अनुसार काम किया हम ऐसे रहे हम वैसे रहे हम वैसे रहे हैं और ईश्वर हमारी ओर कोई ख्याल नहीं करता है मैंने कहा भाई जिसको तुम धर्म अधर्म मानते हो ईश्वर भी उसी को धर्म अधर्म मानता है क्या ईश्वर हिन्दुस्तान का कानून मानता है कि अमेरिका का इंग्लैंड का कि रूस का कि चीन का इस कानून के अनुसार ईश्वर न्याय अन्याय मानता है जिसको तुम अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो ईश्वर की बुद्धि में भी वही अच्छा बुरा है क्या अकल वाले से हो समझदार है महाराज तब ईश्वर का कानून क्या है ईश्वर का धर्म क्या है अरे जीव का कानून दूसरा है भाई ईश्वर का कानून ईश्वर का कानून है भक्त का पक्षपात उसके सिवा ईश्वर का और कोई कानून ही नहीं जब जो भी हाथ तोड़ेगा हम लोगों के हिन्दुस्तानी कानून से जो चोर है हमको बता रहे थे असल में तो वो सर्वोदय जो आए थे ना सर्वोदय सर्वोदय के बड़े नेता हैं हाँ तो वो कहते हैं कि महाराज जो जातियों से हम लोगों ने आत्मसमर्पण करना था वो तो ढंग घंटे भजन करते हैं हाँ, और मस्त रहते हैं और पहले कहते हैं जब हम डाका डालने जाते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते थे देवी माई को मना के जाते थे कि हम पकड़े न जाते क्या ईश्वर का कानून है अरे बाबा देखो तो ब्रह्म का तो कानून है ये कि कोई कानून न माने ये तो ब्रह्म का कानून है बोला वो भक्त पक्षपाती भी नहीं होता है वो धर्म पक्षपाती भी नहीं और भक्त वो भक्त पक्षपाती भी और ईश्वर का कानून है भक्त पक्षपाती जोर से ईश्वर का नाम ले अभिषेक सुदुराचारो भजते धन्यवाद ईश्वर का कानून है भक्त का पक्षपात और धर्म का कानून है धर्मात्मा की रक्षा वो न्याय है जज है और ईश्वर शरणागत की रक्षा करता आज जो भाव वेद सके त्रिपुरा और ब्रह्म का कानून क्या है कौन राजा है न प्रजा है न कानून है न शासन है धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानी न दे नमाज पढ़ना धर्म है कि पूजा करना धर्म है मूर्ति पूजा करना पुत्र है ये इस्लाम धर्म है मूर्ति पूजा नहीं करना एक दिन यही क्यों एक एक लड़की मतलब क्या ही गई हिंदू के घर में वो अमेरिका में रहती आई थी तो उसको तो यहाँ के शिष्टाचार का पूरा पता नहीं है हमसे बोली कि हम एकांत में बात करेंगे तो हमारे तख्ते पर ही आके बैठे मैंने कहा अच्छा भाई बैठ तो उसने कहा कि हम जब अपने पति के साथ मंदिर में जाते हैं और ये कहते हैं कि हाथ जोड़ो फूल चढ़ाओ तो हमारे मन में बहुत गिलाने होती है कि ये तो मैं पाप कर रही हूँ पुत्र खुद परस्ती तो मैंने उससे कहा कि तू कबर के सामने कभी जाती है कि नहीं मकबरा मकबरे में कभी जाती है कि नहीं तो जाते हैं हाँ। तो वहाँ तो झुकाती है कि नहीं तो झुकाते तो मैंने कहा भरे हुए प्रेत के सामने से झुकाने में कुछ आती है और जिसको हम लोग ईश्वर समझते हैं उसको सिर झुकाने में तुमको शर्म आती है, है? मकबरे के सामने है हाथ जोड़ना सिर झुकाना ये बुद्ध परस्ती नहीं है और मूर्ति के सामने सिर झुकाना बुद्ध परस्ती फिर यहाँ पर आगे काम करा और याद जब आगे हाँ, हाँ, हाँ। तो भाई मेरे धर्म क्या है मूर्ति पूजा धर्म है कि मूर्ति तोड़ना धर्म है देखो मुसलमान के मन में ये बात पहुंचाई गई है कि खुदा बिल्कुल बेशकल सूरत का निराकार होता है और हिंदू के मन में बात बैठा दी गई तो बैठा ही एक बात है दोनों तैयार होता है मूर्ति नहीं मूर्ति मूर्ति जो है वो साक्षात ईश्वर रूप है तब तो यहाँ ये धर्म है कि मूर्ति के सामने झुको तब वहाँ वो धर्म है कि मूर्ति के सामने न झुको वो तो हमारे आकाश की गुरु की सबको तो तो पूरा करते हैं ना वहाँ कोई बना ले मोहम्मद साहब की मूर्ति मार हाँ, मुसलमान तो हो यदि मोहम्मद साहब का एक फोटो एक फोटो छाप दिया एक बार कल्याण में बहुत पुरानी बात है वो गलती से मोहम्मद साहब की तस्वीर बनवा के छाप दी गई थी महाराज वो कोलाहल बचा वो उपद्रव हुआ तो कल्याण से वो पन्ना फाड़ के फिर दूसरी जगह उसको दूसरी चीज छाप दी क्या कारण होता है तो सत्य बोलना भी अधर्म होता है कहीं नहीं बोलना न हो जाना कहीं कहीं हिंसक होना है ना कोई अपनी पत्नी को पकड़ कर लिए जा रहा हो जबरदस्ती और क्या नाम है गाय को मार रहा हो उस समय हिंसक होना भी अधर्म होता है और प्राण निकल रहे हैं तो उस समय दूसरे तो के घर में से चोरी से उठा के खा लेना चाहिए जिंदा रहेंगे तो फिर मर यदि उनके मर रहे हो तो फिर ऐसी क्या चीज है जो धर्म नहीं है और ऐसी क्या चीज है जो अधर्म नहीं है तो ये मनोविकार कंस का तो थोड़ा महाभारत में वर्णन आता है महाभारत युद्ध के बाद वंश का लोक प्राप्त हुआ कि बहुत सारे वंश मुक्त हो जाए तब वहां लोक का विधान किया गया महाभारत में लोक की प्रथाओ तो नहीं वंश तो चलने चाहिए क्या धर्म होता है और क्या अधर्म किस देश में किस काल में किस जाति में किसके लिए क्या धर्म होता है क्या अधर्म होता है ये अधिकारी को देख के देश को देख के काल को देख के वस्तु को देख के जाति को देखकर उम्र को देखकर और अवस्था को वृद्धावस्था आदि जो है उस अवस्था को देखकर शक्ति को देखकर धर्म का निर्णय किया जाता है और ये मानस और सुखदुख ये ऐसा अच्छा चर्चा आपको करते हैं तो जरूर ऐसा काम होना चाहिए जो सबके लिए हो ये तो अलग अलग देखते हैं अब देखो हमारे जैन लोग जो है स्नान करना और भोग करना इसको भारत हिंदू मानते हैं सनातन धर्मी लोग स्नान करना भोग करना बड़ा धर्म मानते हैं गुरु की पूजा करना हिंदू लोग सनातन लोग धर्म मानते हैं जैन धर्म मानते हैं बौद्ध धर्म मानते हैं सनातनी धर्म मानते हैं और ईसाई मुसलमान आज समाजी प्रमुख समाजी ये मूर्ति पूजने को धर्म नहीं मानते हैं मुसलमान लोग तो बड़ा भारी अधर्म मानते हैं अब बताओ धर्म यदि वस्तु में आत्मा से निकलता हो सबके लिए एक परंतु सबके लिए एक तो स्त्री में सुख हो तो हिंसा होना चाहिए पुरुष में सुख हो तो हिंसा होना चाहिए ऐसा है एक आदमी से बड़ा बड़ा करा रहा था हाय हाय हाय अब किसी क्या करेंगे अब घर में सो राजी में इतने में महाराज घर में आग लगे भूल गया सारा वो उठ के खड़ा हुआ चिल्लाया लेके पानी घर में डालने लगा जब ये लगा कि अब मैं घर जाऊंगा तो बड़े मोटो बात है मतलब वो शरीर की जो पीड़ा थी वो शरीर की पीड़ा जब तक मन पीड़ा में था तब तक वो मालूम करती थी और जब मन पीड़ा में से निकल गया दूसरी तरफ चला गया तो वो दूर हो किसी के मिलने से सुख है जब किसी से नफरत हो जाती है तो मार डालते हैं उसको कई लड़की लड़कों के बारे में आता है बड़ा भारी प्रेम जब लड़की ने मना कर दिया कि तुम्हारे साथ जाना पड़ेंगे तो कुछ तो उसमें भाग ये देखो ये संसार में कहाँ सुख है कहाँ दुख है ईश्वर की कृपा से आदमी के अंदर समझदारी होनी चाहिए यदि वो समझ से दूर होगा तो वो कोने को भी पाप बना देगा पाप को भी कोने बना देगा सुख को भी दुख बना देगा दुख को भी सुख बना देगा इनका जो बीज है की जो जड़ है ये हमारे मन में ही है और वो जड़ की बाहर से जानी हुई है बोला अभाव एक संक्रांति यही वेदांत की माने होता है से अपना पांव आगे बढ़ाओ संक्रांति मान पांव को आगे बढ़ाना आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं पांव बढ़ गया आगे बढ़ गए और चल पड़े हिमालय की ओर चल पड़े उत्तर उत्तरायण माने ऊंचाई पांव आगे बढ़ते हैं कभी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं कभी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो आज सूर्य के जो पांव हैं वो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्नति की ओर बढ़ते हैं इसलिए इसको उत्तरायण और उसमें भी संघ योग जोड़ दिया और एक पांव ऊपर की ओर बढ़ते हैं धरती को रहने दो धरती पर शरीर को रहने दो शरीर और ये मन की उलझनों में जो तुम बधे रहते हो वहां से अपने को ऊपर उठाओ ऐसा मन जो सवेरे कुछ दोपहर को कुछ शाम को कुछ रात को कुछ क्षण में कुछ अगर उसमें अपने को डाल दोगे तो वो दिन रात चौबीसों घंटे तुमको तकलीफ देना रहेगा संक्रांति का अर्थ है कि छोड़ दो इस मंत्र इस दक्षिणायन को छोड़ो चलो उत्तरायण में उत्तमायण में अपने धर्मा धर्म सुखम को ही एक स्त्री थी विदेश गया अच्छा का खालिद था इसी दवा से अच्छा था डॉक्टर बहुत बढ़िया डॉक्टर था उसने कहा भाई देखो प्रार्थना करते थे पर लेके इतना तो ठीक है अब महाराज का कमरा बंद करो मैं और गोली बोल स्त्री की युवती सुंदर कुछ नहीं कपड़े उसको महंगा छटपटाई और छटपटाने के बाद उठ के खड़ी हो गई और डॉक्टर को पीटना शुरू कर दिया लोगों ने किवाड़ी खोली क्या हो रहा है क्या कर रहे हो बड़े दोस्त हो डॉक्टर को तो बोला देखो तुम्हारा रोग ही अच्छा हो गया तो असल में हमारे शरीर में भी जो निष्क्रियता है वो हमारे मन की कमजोरी से है मन में अगर भगवान मन हमारा भगवान हो कोई सुख नहीं कोई इसको तो भी छोड़ो मन चाहे सुख हो चाहे जब वो हजार रूप धारण करता है बहुरूपिया है ये मन तो बहुरूपिया है कभी गंदा गंदी पोशाक पहन लेता है कभी स्वच्छ पोशाक पहन लेता है कभी भले मानुष बन जाता है कभी बदमाश बन जाता है कभी बुद्धि का ढोंग करता है कभी बुद्धि का ये सब ढोंग है क्योंकि मिनट मिनट में बदलता है इसमें सच्चाई बिल्कुल है आप अपने मन की बात को सच्ची मानते हैं वो साहूकार को चोर बता देता है चोर को साहूकार बता देता है वो अच्छा को बुरा बताता है बुरे को अच्छा बिना बताता है कि क्या मन अपना विश्वास करने योग्य है क्या सबसे ज्यादा अपने पास अविश्वसनीय सलाहकार कोई है तो अपना मन लाइब्रेरी में लिखा है कि ये जो छाती है ना छाती ये मांस की एक गांठ है कामी लोग कहते हैं ये अदरक का कलर मुंह से बहता है लाल कामी लोग कहते हैं ये अधरामृत वैराग्य सतर्क हैं देखो अपना अपना दृष्टिकोण है तो है ना अपना अपना दृष्टिकोण ही है कहाँ सुख है कहाँ दुख है उद्वास करने में सुख है कही है मैंने दोनों में करना बात करना कि भूखे रहना हाँ, इन दोनों में क्या फर्क है भूखे रहने में दुख होता है और बात करने में हाँ, ये किसी को मानस बोलते हैं वो श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ और थोड़े से बाहर के कोई बजावे हैं उसे तो बहुत बड़ी कृपा और ऐसे कोई थोड़ा दिखा दे और तो सर हो इसी का नाम बंद है वो इसी का नाम कोई जरा सा खाता चुभा दे आपके शरीर में मारने को तैयार होता जाए डॉक्टर लोग काट कर हाथ पाँव काट के फेंक देते हैं बोले हमारी बधाई तुम्हारी बधाई के लिए करते खानी यस्मिन तत्व जिसमें ख माने हमारे इंद्रिय के छेद अवकाश को मान इंद्रिया और अंतकरण का जो छिद्र अंतकरण भी छिद्र ही है जैसे आप समझते हैं ना कि हम शब्द सुनते हैं तो कान एक कान कान में एक टेढ़ा बेड़ा छेद है और उसमें जाकर जब आवाज टकराती है तो सुनाई पड़ती है छेद का ही नाम पास है ये ऑपरेशन करके चाहे कि हम उसको निकाले हाँ, निकाल के जरा एक का कान दूसरे के कान में लगा दो कान का चांद का एक टुकड़ा न लेके लगा सकते हो सुनने की शक्ति नहीं लगा सकते तो ज्ञानात्मक होती है वो ज्ञान ज्ञान तो ऐसे ये हृदय का भी क्षेत्र है और काशात्मक बिल्कुल उस पर कुछ नहीं न लाल है न काला है न पीला है न इंच भर का है न फुट भर का है तो दिल जो है ना विज्ञान शक्ति है वो तो न इंच है न फुट है न उसका जीवन एक सेकेंड है न एक वर्ष है न वो एक भाषा है न एक खुदा है न एक गुडो है न एक मिलकत है जिसको हम लोग मन कहते हैं उसकी न उम्र है न लंबाई चौड़ाई है न वजन है न आकृति है बस जैसी आदत डाल दी जाए वैसी फुरफुराहट होती रहती है ये नंगे लोग जो है गंगा किनारे बिना कपड़े के धरती में सोते हैं और कहते हैं हमारे सामने ये राजा रईस क्या हो मन की मस्ती है मन के हारे हार है मन के जीते परमहंस राम कृष्ण के शरीर से जब पैसा छू जाता था ऐसा मैंने तो उनको लगता था कि जैसे आग लग रही है चिंगारी एक दिन अंजार में किसी ने उनके आसन के लिए कुछ पैसा रखे और बोले अरे आ गए तो आगे गए तो मालूम नहीं गर्म लगता सब मानसा की आदत ऐसी नहीं है धर्म की क्या बात हमारे सामने हिंदू मुसलमानों के इतने दंगे हुए हैं वो तो दोनों जो होते गाय के लिए देखो दोनों की धारणा बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं ईश्वर की कृपा से कान पड़ गया है उसके बच्चे कच्चे आपको तो तकलीफ देने लगा है संस्कार ही है कुल का कुल संस्कार एक आदमी के घर में आ सकते हैं मेरा घर नहीं जा रहा है दूसरे का जा रहा है आपने ये सुना है कि नहीं कि लोग बीमा करा के बीमा करा के दुकान का सामान हटा देते हैं और आग लगा देते हैं जल गया और जब तक अपना है तब तक उसके जलने की तकलीफ है और जब अपना नहीं है तो उसके जलने की तकलीफ नहीं है मतलब क्या हुआ कि तकलीफ सारे मन की है चलने की तकलीफ नहीं है मन की तकलीफ तो उनको बाहर ठीक करना उतना जरूरी नहीं है अपना मन ठीक करना बहुत जरूरी है आप लोगों ने सुना हो कि न सुना हो जैसे तिरुपति जाते हैं ना तिरुपति बालाजी तो रास्ते में बहुत से ये बैठे गरीब की के लिए अपना अंग भंग करवा देते हैं पहले इससे ठीक ज्यादा मिले कमाई करने के लिए अंग भंग करते हैं हाथ पाव तोड़ लेते हैं और फिर वहां बैठ के हैं फायदा है शास्त्र की बात अभी तक नहीं होगा वो तो लोक की बात आपको सुनाई शास्त्र की बात सुना उसमें अधिकारी थे वो सूर्यास्त के समय संख्या कार्य को होराजन चतवारी परिवर्तन है सूर्यास्त के समय चार काम नहीं करना भोजन नहीं करना चाहिए नींद नहीं लेनी चाहिए तक बोल के पढ़ना नहीं चाहिए और जुबानी करना और स्त्री पुरुष का संवाद नहीं करना ये है नर को सायंकाले तो पूरा जन चंद्रमा नहीं कर सकते ये चीज बढ़िया है इसको खाने में क्या है not